आज और खुजली इसकी सबसे अच्छी औषधियों में एक है खोरपट का रस गाय का शेन गाय का मूत्र हाँ बहुत अच्छा है किसी भी तरह की खाद और खुजली को ठीक करता है कहीं भी हो गाय का मूत्र भी बहुत अच्छा है थोड़ा शेन मिला के लगाओ तो अच्छा नहीं तो खाली मूत्र की मालिश भी कर सकते होम्योपैथी औषध जो मैंने सल्फर लिखा था वो तो ही है दो नंबर पे जो औषध लिखी थी शुरू में सल्फर 200 वो खुजली की सबसे अच्छी औषध है और सिर्फ खुजली की नहीं है सभी चर्म रोगों की औषध है वो S U L P H U R सौ सौ ये सप्ताह में एक ही दिन देना दो सौ क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग है सप्ताह में एक दिन तीन बार दोपहरी संध्या काली क्या हाल है मैं एक दिन देंगे तो चार पांच हफ्ते देना पड़ेगा